ष्ठ मंत्र चल रहा था यह पूर्व तपसो जातम अद्भ्य पूर्वम गुहां प्रवेश तिष्ठत यो भूतेभिर्व्यपश्यत एक इसमें कहा है पूर्व अजात अद्व्य पूर्व अजात अद्भ्य का अर्थ क्या अपसहितेभ्य पंचभूतेभ्य पहले अपंचीकृत भूत की उत्पत्ति होती है उसे अंतकरण प्राण ज्ञान इंद्र कर्म इंद्रिय की उत्पत्ति होती है वही सूक्ष्म शरीर हो जाता है पांच ज्ञानेन्द्र पांच इंद्र पांच प्राण और अंतकरण ये सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधि युक्त ही अभिमानी होता है हिरण्यगर्भ उसके बाद पंचीकरण होता है तो पंचीकृत पंचमहाभूत के पहले ही हिरण्य गर्भ उत्पन्न होता है अभी यहाँ श्रुति से ही दिखा श्रुति से यही सिद्ध होता है कि सर्वात्मक ब्रह्म है हिरण्य गर्भ भी ब्रह्म है टीका में दिया यह कश्चित पूर्वम तपस जातम पश्यति स प्रकृतम ब्रह्म पश्यति संबंध तप से जात पूर्वम जलादि पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति के पहले जो उत्पन्न हुआ हिरण्य गर्भ उसको जो जानता है वो ब्रह्म को ही जानता है क्योंकि हिरण्य गर्भ ब्रह्मात्मक ही है अद्भ्य पूर्वम इत्यादिना हिरण्य गर्भस्य विशेषण अंतकरणासेन अंशेन जीव आवश्यकत्वात् जीव तादात्म्य विवक्षया विशेषण शब्दादिन उपलभ मानमिति इसमें दिया प्रथमजम जातम तो पहले उत्पन्न हुआ देवादि शरीराणि उत्पाद्य सर्वपाणी प्राणी गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तम सब शरीर की उत्पत्ति करके प्राणियों के गुहा बुद्धि रूप गुहा में हृदयाकाश में प्रविष्ट होकर के रहता है और शब्दादि उपलब्धमान वही रह करके शब्दादि उपलब्धमान उपलब्धि करता है तो शब्दादि उपलब्धमानम जो कहा है उसको कहते हिरण्य गर्भ क्या शब्द आदि भोग करता है तो इसमें एक अद्भ्य पुरम इत्यादि ना हिरण्य से विशेषेण हिरण्य गर्भ तो समष्टि सूक्ष्म अभिमानी है उसका अभिमान का विषय है समष्टि सूक्ष्म शरीर उसका विशेषण विशेष है विशेषण मतलब स्वल्प अंश अंतकरणांशेन हिरण्य गर्भ का जो विशेषण टिप्पणी में इसे कुछ आगे पीछे हुआ है दो नंबर टिप्पणी में विशेषण विशेषण है ना इत्यर्थ विशेषण दिया हिरण्यगर्भ का विशेषण दिया किंतु हिरण्यगर्भ जीव का का नहीं हिरण्यगर्भ से जीव हिरण्य हिरण्यगर्भ कोई जीव का अवच्छेदक चेतना नहीं होता है चेतन का अवच्छेदक इसलिए हिरण्यगर्भ का जो अंतकरण अंश है उसे अंश से समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ व्यष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी होता है तेजस जीव का अवच्छेदक अंतकरण है अंतकरण अवच्छेद होता है तो अंतकरण भी समष्टि अभिमानी हिरण्यगर्भ का अंतकरण का अंश रूप हुआ अंतकरण अंशेन जीवावच्छेदकत्वात् अंश जीव का अवच्छेदक हुआ हिरण्यगर्भ अभिमान का विषय समष्टिलिंग शरीर उसका एक देश हो गया अंतकर्ण उससे ही जीव अवच्छिन्न होने से जीव तादात्म विवक्षया क्योंकि उसके अंश जीव का आवश्यक होने से जीव के साथ उसकी तादात्म विवक्षा करके विशेषणम शब्दादिन उपलभमान समष्टि जीव कहते हैं व्यष्टि अलग-अलग जीव अंतकर्ण अवच्छिन्न है अंतकर्ण उपहित होता है वो शब्द आदि विषय ग्रहण करता है उसके साथ समष्टि का जैसे वन और वृक्ष वृक्ष है व्यष्टि सब मिला करके वन कहते हैं इसी प्रकार तादात्म्य विवक्षा करके विशेषण दिया आदि उपलब्धमान शब्दादि उपलब्ध करता हुआ जो ब्रह्म लोक में जाते हैं वो भी विषय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है शब्द स्पर्श रूप आदि ग्रहण से जो आनंद प्राप्त होता है यहाँ स्वर्ग में तो इच्छा मात्र से विषय प्राप्त हो जाता है भोग करते हैं ब्रह्मलोक में तो भोग करने की आवश्यकता नहीं है स्मरण संकल्प मात्र से वो सुख उनको प्राप्त हो जाता है तो हिरण्यगर्भ स्वयं जब समष्टि सूक्ष्म उपहित हो गया वही परमात्मा ही माया विशिष्ट ईश्वर है शुद्ध चेतन को ईश्वर कहते हैं माया विशिष्ट होने से माया से ही ईश्वरत्व जगत सृष्टि कारणत्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व ये सब माया से पारमार्थिक शुद्ध चिन्ह मात्र में ना तो कारणत्व है ना सर्वज्ञत्व ना सर्वशक्तिमत्व है वही ईश्वर जगत सृष्टि कारण है वह यदि जब अपंचीकृत भूत उत्पत्ति के पश्चात सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति सूक्ष्म शरीर में अभिमान हो जाता है सूक्ष्म शरीर का अभिमान होने से उसका नाम हिरण्यगर्भ हो जाता है तो उसी को ही यहाँ जीव तादात्म्य विवक्षा करके वही उपलब्ध मानन रहता है शब्दादि उपलब्धमान करता है उपलब्धि करके रहता है हिरण्यगर्भ समष्टि रूप से उपलब्धि नहीं होती है व्यष्टि रूप से है तो व्यष्टि समष्टि में अभेद विवक्षा करके शब्दादीन उपलब्धमान हिरण्यगर्भ को जो जान दिखता है भूते भी व्यपश्यद भूते ही भूत के साथ रहता है भूत के साथ कैसे रहता है भूत स्वयं भूत पांच भूत को लेकर रहता है नहीं भूत का परिणाम हो जाता है कार्यकरण लक्षण शरीर इंद्रिय संघात कार्यकरण लक्षण ही सतिष्ठंतम वो कार्यकरण के साथ होकर के रहता है अर्थात उसका शरीर इंद्रिय आदि के युक्त होकर के रहता है यो व्यपश्यत जो उसको यह पश्यति जो इसको जानता है हिरण्यगर्भ को वही ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म ही है टीका में यदिति अस्मा लोके सुवर्णाजातं कुंडलम सुवर्णव भवति तद्वद ब्राह्मणो जातो हिरण्यगर्भोपि ब्रह्मात्मकैव इत्यर्थः लोक में यह प्रसिद्ध है सुवर्ण से जात कुंडल आदि भूषण सोना ही है सुवर्ण से उत्पन्न हुआ तो सोना है मिट्टी से बना गया घट सर्वादि सो मिट्टी है इस प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जितने कार्य सो ब्रह्मात्मक ही है ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है मिट्टी से बना गया घट सराव मिट्टी ही है मिट्टी से अलग कुछ है ही नहीं जिसको घट सर्वादि शब्द से कहते हैं मृत भिन्न कुछ उसकी सत्ता है ही नहीं क्योंकि मिट्टी को अलग कर देंगे तो घट आदि कुछ नहीं रहता है तो अलग जो घट आदि नाम कहते हैं नाम रूप वो कल्पित है पारमार्थिक नहीं है इसी प्रकार सुवर्ण से बना गया भूषण जितने है सोना से अलग किसी की सत्ता नहीं है सुवर्ण के बिना कुछ नहीं रहता है नाम रूप से कुंडल कटक मुकुट आदि नाम रूप अलग अलग है वो कल्पित है इसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सारा प्रपंच ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्मात्मक है उत्पन्न भी वास्तव उत्पत्ति नहीं है दृष्टांत समझा करके सर्वात्मक ब्रह्म है सर्व ब्रह्म सब सब कुछ ब्रह्म है ये बताने के लिए मिट्टी सोना आदि दृष्टांत लेकर के बताते हैं कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं है शुद्ध ब्रह्म जग, जगत का कारण भी नहीं है कारण तो माया से है माया से कारण तो ले करके वो कार्य कारण से अलग नहीं है जो माया विशिष्ट ब्रह्म कारण होता है उससे अलग कोई कार्य नहीं है इसलिए सर्वम कलयुदम ब्रह्म सर्वम ब्रह्मात्मक ये कहा गया सर्वम ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सुवर्ण से बनाए गए जितने भूषण सो सोना ही है सुवर्ण से अलग किसी की सत्ता नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म से बिना किसी की पृथक सत्ता है ही नहीं सब ब्रह्म सर्वम ब्रह्म नाम रूप कल्पित है एक अद्वितीय ब्रह्म ही अनेक रूप से दिखता है एक ही बिंब का अनेक प्रतिबिंब होते हैं हो सकते हैं एक ही आप सपने में अनेक रूप दिखते हैं अनेक हो जाते हैं होता नहीं है दिखता है ऐसा इसी प्रकार सुवर्ण से बना गया कुंडल जैसे सुवर्ण है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ हिरण्य गर्भ भी ब्रह्मात्मक है सारा जगत ब्रह्मात्मक उत्पन्न का ऐसे ही विवर्त कहा जाता है ये उत्पत्ति तो नहीं है तो इसे लोक में व्यवहार उत्पत्ति को लेकर व्यवहार शब्द प्रयोग किया जाता है सूर्य से उत्पत्ति नहीं कह कर विवर्त कहेंगे तो समझ नहीं आएगा जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से ऐसे कही गई बाद में विचार करते ब्रह्म से उत्पत्ति कैसे होगी निर्विशेष पर ब्रह्म है निर्गुण है उसे कैसे जगत की उत्पत्ति होगी इसलिए कहते माया से फिर माया कहाँ से आ गई कहते अनादिकाल से है अनादिकाल से यदि माया ब्रह्म के साथ है तो अद्वित्व कैसे होगा सृष्टि के पहले एकमेव द्वितीयम कैसे बनेगा इसलिए कहते माया नाम को कोई वास्तव पदार्थ ही नहीं नहीं तो फिर माया से जग, जगत का कारण कैसे हुआ जगत कारण पूछते समय कहेंगे माया से माया हो तो द्वितीय हो जाएगा तो कहते नहीं ब्रह्म से भिन्न ही नहीं ब्रह्म से भिन्न नहीं तो फिर माया क्या चीज है इसलिए कहते भिन्न नहीं अभिन्न नहीं उभयात्मक नहीं उसको कहते अनिर्वचनीय वास्तव या नहीं नहीं सत नहीं तो नहीं तो बंध्या पुत्र शशि विशान जैसे होगा कहते वो भी नहीं है सत भी नहीं असत नहीं तो मिला हुआ होगा मिला हुआ को भी नहीं हो सकता है उसको भी कहेंगे अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय शब्द से अनिर्वचन शब्द का अर्थ नहीं कि कुछ भी नहीं कहना मुख बंद कराना कुछ कहेंगे तो पाप होगा ये अर्थ नहीं है अनिर्वचन निर्वचन उसका निर्वचन निरूपण नहीं हो सकता है सत रूप से असत रूप से उभय रूप से उसका निर्वचन निर्वचन कथन निरूपण शब्द से नहीं हो सकता है सत नहीं असत नहीं उभय नहीं ब्रह्म सदरूप है सस्य विषाण बंध्या पुत्र असत है और बाकी सारा जगत माया सब अनिर्वचन है ब्रह्म को अनिर्वचन नहीं कहा जाता है कोई नहीं जान कर कहते ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है अनिर्वचन शब्द का अर्थ मिथ्या है कहीं यदि ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा है तो उसका अर्थ अवाच्य अवाच्य अनिर्वचनीय दोनों का अर्थ भिन्न-भिन्न है ब्रह्म है अवाच्य माया अवाच्य है या नहीं माया अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय किंतु अवाच्य नहीं क्योंकि माया को तो माया शब्द से कहते हैं अविद्या भी कहते प्रकृति कहते अक्षर कहते अव्यक्त कहते कितने शब्द कहते तो अवाच्य नहीं अनिर्वचनीय तो ब्रह्म अवाच्य ब्रह्म को तो ब्रह्म कहते सत कहते ईश्वर कहते तत्व से तत् कहते बहु शब्द कहा जाता है तो अवाच्य कैसे हुआ जितने शब्द है ब्रह्म को कहने के लिए कोई भी शब्द शक्ति से ब्रह्म को कहता है शक्ति शक्यार्थ ब्रह्म नहीं होता है एक पद की शक्ति है सामर्थ्य अर्थ को बोधन करने का सामर्थ्य पद में है शक्ति का ज्ञान है आपको तो घट कहते अर्थ का स्मरण हो जाएगा जिसको शक्ति ज्ञान नहीं है वो पूछेगा दूसरे का घट क्या है क्या है घटा है घट क्या है शक्ति ज्ञान होने पर शब्द सुनते ही अर्थ का स्मरण होता है कल पुष्प कह दिया फल कह दिया पुष्प फल अर्थ तो स्मरण हो जाता है इस पदार्थ के साथ पद का कोई संबंध है तभी शब्द कहेंगे तो अर्थ का स्मरण हुआ घट कहते समय किस फल का स्मरण होता है पुष्प का स्मरण होगा नहीं पुष्प कहेंगे तो किस फल का स्मरण होगा पुष्प का होगा जिसके अर्थ के साथ संबंध है उसका स्मरण होगा पद पदार्थ संबंधों को हते शक्ति घटपद की शक्ति है अर्थ को बकताने के लिए घट माने कहेंगे तो समझने वाला लाता है घट लाता है जलम अस्ति का जल उसमें है ये शक्ति से जिस प्रकार पद से पदार्थ का बोधन होता है किंतु जिस पद का कहने पर जिस अर्थ का बोधन होता है उस अर्थ को कहने के लिए पद में सामर्थ्य है शब्द प्रवृत्ति का निमित्त होता है कहाँ शब्द की प्रवृत्ति होती है घट शब्द की प्रवृत्ति घट अर्थ में है पुष्प में नहीं फल में नहीं गो में नहीं गो शब्द की प्रवृत्ति गाय में है महिष में नहीं घड़ा में नहीं पर्वत में नहीं इसी प्रवृत्ति के निमित्त कहते प्रवृत्ति का कारण शब्द की प्रवृत्ति होती है अर्थ बोधन करने के लिए शब्द का उच्चारण किया जाता है प्रामाणिक व्यक्ति शब्द उच्चारण करते सुनने वाले अर्थ को समझ लेते हैं तो शब्द की प्रवृत्ति होती अर्थ को कहने के लिए प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया आदि होते हैं गोत्व तो जाति जहाँ है उसको गो शब्द से कहेंगे घट तो जाति है तो घट शब्द से कहेंगे और गुण है नीलपित मधुर अम्ल आदि गुण है तो नीलम पुष्पम आनय मधुरम परम आनय ये सब गुण से लेकर शब्द प्रयोग होता है कहीं क्रिया को लेकर के पाचक पाठक लाभक कहते भोजन पकाता है तो पाचक छेदन करने वाला लाभक पढ़ाता है तो शिक्षक चलता है तो गंता ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जाति गुण क्रिया संबंध को लेकर दंडी कुंडली आदि शब्द प्रयोग करते हैं ब्रह्म में किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है क्योंकि ब्रह्म में ना कोई जाति है ना कोई गुण है ना कोई क्रिया है ना कोई संबंध है कुछ नहीं है जाति तो अनेक व्यक्ति में एक जाति अनेक गो होते एक गोह तो जाति अब ब्रह्म एक अद्वितीय उसमें कोई जाति नहीं रहती है इसी प्रकार जैसे आकाश में जाति आकाशत्व तो जाति नहीं मानते हैं और गुण वे निर्गुण है साखी चेता केवल निर्गुणश्च और निष्क्रिय है क्रिया नहीं है और संबंध नहीं असंग हुआ है पुरुष इसलिए किसी भी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती ब्रह्म को कहने के लिए शक्ति से ब्रह्म का कथन किसी शब्द से नहीं होता है जहाँ ब्रह्म को कहने के लिए शब्द श्रुति में प्रयोग किया गया तत्त्वमस्मि तत् शब्द सदैव समेत एकदम एक राशि शब्द परमात्मा शब्द आत्मैव एकदम अग्र आसीति सर्वम ब्रह्म ये सब शब्द लक्षणा से ब्रह्म को कहते हैं लक्षणा से कहने से पद की शक्ति नहीं पद का वाच्य ब्रह्म नहीं होता है अवाच्य है ब्रह्म इसलिए श्रुति कहती अवांग मनस गुजर यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह वाणी मन का विषय नहीं ब्रह्म है अवाच्य अनिर्वचनीय नहीं अनिर्वचनीय तो मिथ्या को कहते हैं जो सत नहीं असत नहीं उभय नहीं उसको अनिर्वचनीय माया अनिर्वचनीय है किंतु अवाच्य नहीं है माया के लिए शक्ति प्रकृति अविद्या अक्षर अव्यक्त बहु शब्द कहे जाते हैं वहाँ लक्षणा नहीं होती है प्रकृति शब्द कहेंगे तो माया शब्द कहेंगे तो क्या लक्षणा से ज्ञान होता है वहाँ लक्षणा नहीं है वो तो वाच्य है तो माया अनिर्वचनीय है इसी प्रकार इस जगत कार्य से अनिर्वचनीय है अनिर्वचनीय होने से उसकी अलग सत्ता है ही नहीं है सारा जगत ब्रह्मात्मक है ब्रह्म का कार्य जो कहा वो कहते हैं माया से कार्य उसको कहते विवर्त जिस रज्जु में भ्रांति से सर्प दिखता है वो सर्प दिखता है तो सर्प मानते हैं सर्प कहाँ से आया कहेंगे रज्जु का कार्य है रज्जु का कार्य कैसे होगा कार्य समझने के बाद फिर कहेंगे अज्ञान से रज्जु का कार्य फिर अज्ञान से कार्य का तो वास्तव रज्जु सर्प की उत्पत्ति हो गई वास्तव नहीं तो कार्य कैसे होगा कहते विवर्त है परिणाम नहीं है विवर्त है अतत्व तो अन्यथा भाव तात्विक अन्यथा भाव नहीं अतात्विक अन्यथा भाव को कहते विवर्त रज्जु में जो सर्प दिखता है वो रज्जु का विवर्त है इसी प्रकार जगत जो दिखता है ब्रह्म का विवर्त है तो कार्य शब्द से कह देते हैं यह विवर्त रज्जु में जो सर्प दिखता है वो तीनों काल में रज्जु ही है रज्जु से बिना सर्प है ही नहीं इसी प्रकार सारा जगत ब्रह्म से बिना नहीं है सब ब्रह्मात्मक है तो हिरण्यगर्भ को भी जानता है वही हिरण्यगर्भ ही ब्रह्म है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कार्य सब ब्रह्म है ब्रह्म का विवर्त जितने ब्रह्म ही है इसलिए हिरण्यगर्भ भी ब्रह्मात्मक है वो उसको ब्रह्म को जानता है जो हिरण्यगर्भ को जानता है वो ब्रह्म को जानता है सारे जगत को इसी प्रकार समझ लेने पर नाम रूप का निषेध करने पर एक अधिष्ठान ब्रह्म ही सर्वत्र है रूपेण अस्ति अस्ति अस्ति करके सदरूप से अनुगत अनुगत है घटो भाति पटो भाति दिखता है दिखता है रूप से अनुगत है सर्वात्मक ब्रह्म इसको जानने के लिए नाम रूप का निषेध कर दे तो अस्ति भाति प्रिय तीन अंश रहेगा ये ब्रह्म को जानता है एतद वितत नचिकेता को यमराज कहते हैं यही तत्व है जो सर्वात्मक ब्रह्म है तुमने जो पूछा था आत्मा मरने के बाद है अथवा नहीं है यही तत्व है अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात का धर्म अधर्म कार्य कारण से विलक्षण आत्म तत्व एक अद्वितीय तत्व है वही सर्वात्मक है अन्य कोई पदार्थ से भिन्न नहीं है आगे टीका में दिया हिरण्यगर्भस्यव विशेषणांतर माह वही हिरण्यगर्भ उसका ये दूसरा विशेषण कहते किंच या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ते या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् या देवतामयी देवता प्राणेन संभवति प्राण से ही समष्टि प्राणात्मक हिरण्यगर्भ कहते हैं प्राण भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत बुद्धि एक एक की बुद्धि को व्यष्टि बुद्धि कहते हैं सारे बुद्धि को मिला दिया उसका नाम समष्टि बुद्धि एक एक वृक्ष को कहते पेड़ वृक्ष कह देते और सारे वृक्ष को मिला करके वन कह देते हैं वो वन कहते समय सारे वृक्ष का समूह की विवक्षा हो जाती सारे वृक्ष मिल करके वन इसी प्रकार समष्टि बुद्धि अथवा समष्टि प्राण अभिमानी देवता का नाम हिरण्यगर्भ देव शब्द से तल प्रत्यय होता है देवा तल स्वार्थ में होता है तल देवता देवता शब्द का अर्थ नहीं कोई देवी स्त्री है ऐसा नहीं देव एव देवता देव शब्द और देवता शब्द दोनों का अर्थ समान है शब्द देवता शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है देव शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है अर्थ में कोई भेद नहीं है जैसे इंद्र और इंद्राणी इंद्र को कहेंगे देव इंद्राणी को क्या कहेंगे देवता देवी देवता शब्द तो इंद्र भी देवता है वरुण भी देवता है स्वार्थ में होता तल प्रत्यय एक ही अर्थों के अलग-अलग शब्द कहते तट तटी तटम नदी तीर को तट कहते तटी कहते तटम कहते जल शब्द नपुंसक है और आप शब्द कहें तो स्त्रीलिंग हो गया आप बहुवचन होता है हिंदी में ऐसा होता है रोटी सब्जी खाई बनाई और साग बनाया खाया पुलिंग हो गया फूल का रोटी में भेद होता है अर्थ में कोई भेद हो जाए नहीं एक ही अर्थ है शब्द का ये देवता सदस्य स्त्रीलिंग है या प्राणेन संभवते अदितिर देवता मई इसलिए या स्त्रीलिंग में कहा प्राणेन प्राणात्मक हिरण्यगर्भ रूपेण प्राण रूप से संभवति उत्पन्न होती है अदिति कहते साव सब को ग्रहण कर लेता है अदिति समष्टि रूप से सब उसमें प्रविष्ट होते हैं प्राण में देवता में गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्तिम बुद्धि रूप गुहा में प्रवेश करके रहने वाली को जो जान जानता है वही ब्रह्म को जानता है या भूते भी व्यजायत भूत से ही समन्वित होकर के उत्पन्न हुआ उसको जो जानता है वही ब्रह्म को जानता है एतद वितत यही ब्रह्म है यह सर्वदेवतामयी सारे देवता को मिला करके बृहदारण्य के माया तैतीस करोड़ कितने हैं उनको संख्या कमते करते करते करते अंत में एक देवता है उसका नाम हिरण्यगर्भ समष्टि देवता कहते हैं उसका अंश ही अलग-अलग देव है सर्वदेवतामयी जिस प्रकार सारे वृक्षों को मिला करके वनम कह देते हैं सारे व्यष्टि अभिमानी को मिला करके समष्टि सूक्ष्म सर अभिमानी वो हिरण्यगर्भ देवतामयी सर्वदेवता आत्मिका सर्वदेवता ही हिरण्यगर्भ एक है उसका ही डेढ़ दो तीन आदि करके बहुत भेद हो जाता है प्राणेन संभवति प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्मात् ब्रह्मण संभवति परब्रह्म से उत्पन्न होती है देवता हिरण्य गर्भ उसको अदिति कही गई अदिति शब्द से कहा गया शब्दादि नाम अधनात अदिति शब्द रूप स्पर्श आदि को ग्रहण कर लेता है अधनात अदभक्षण खा लेता है ग्रास कर लेता है इसलिए अदिति कहा संवर्ग विद्या में प्राण को ही संवर्ग कहा संवर्जनाद सुश्रुति अवस्था में सब प्राण में लीन हो जाती हैं प्रलय काल में सब वायु में पृथ्वी जल तेज लीन हो जाती है आगे आकाश आदि का विचार पीछे इसलिए संवर्ग कहा इसी प्रकार सब प्राण सब को शब्द आदि को ग्रहण कर लेता है प्राण पूर्वक ही विषय का ग्रहण होता है इसे चक्षुरादि इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कह देते हैं अंतकण में दो ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दो भेद करते हैं ज्ञान शक्ति है और क्रिया शक्ति है प्राण सुश्रुति अवस्था में प्राण में सौलीन हो जाती जब जगता है फिर प्राण से निकलते तो शब्द आदि को अदनात ग्रहण ग्रास कर लेने से अदिति हो गई हिरण्यगर्भ है ताम पूर्ववत गुहाम प्रविष्ट तिष्ठन्ति पहले जैसे कहा बुद्धि रूप गुहा में प्रविष्ट होकर के हे इसी प्रकार यहाँ भी गुहा में प्रविष्ट होकर स्थित हिरण्यगर्भ अदितिम उसको कहते ताम एव विष्णष्टि ताम एव विष्णष्टि अदिति ताम पूर्ववत गुहा विष्णुति या भूते भी व्यजायत भूते भी भूते ही समन्वित भूत से युक्त होकर के उत्पन्न हुआ भूत से उत्पन्न होकर के भूत स्वयं उसके साथ उत्पन्न नहीं सब अपंचीकृत भूत का कार्य परिणाम इंद्र प्राण अंतकण है उससे युक्त होकर के हिरण्यगर्भ होता है व्यजाय तो उत्पन्न हुआ उत्पन्ना जो इसको जानता है वही ब्रह्म वही ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है सारा प्रपंच ब्रह्म ही है नाम रूप अलग-अलग दिखता है मिट्टी से बनाया घड़ा छोटा बड़ा शराब सकोड़ा क्या-क्या अलग-अलग बनाते हैं किंतु सब मिट्टी ही है सुवर्ण से भूषण विभिन्न प्रकार भूषण नाम रूप बहुत ही किंतु सोना ही है सुवर्ण से भिन्न नहीं है इस प्रकार सर्वात्मक ब्रह्म है ब्रह्म दिखता नहीं सब प्रपंच दिखता है जिस प्रकार पूछता है बच्चा कहाँ सोना कहाँ रहा भूषण है ये तो कटक कुंडल मुकुट हो गया सोना कहाँ है सुवर्ण कोई दिया सोनार को वाला बना बना दो भूषण सब भूषण बना दिया तो भूषण तो सब मिलेगा हाँ सोना कहाँ दिखाओ हमारा यही सब सोना है ये तो कटक है कुंडल है मुकुट है सोना कहाँ है कहाँ दिखाएगा वही सोना ही कटक कुंडल मुकुट देखते देखते इतने सत्यता बुद्धि है मुकुट ही दिखता है कटक ही दिखता है सोना नहीं दिखता है सोना तो इतने बड़े पिंड दिया था वो सोना कहाँ है घड़ा बन जाता है तो उसमें ऐसे पका देने पर ऐसा हो जाता है मिट्टी कहाँ है मिट्टी होता है मिट्टी कीचड़ होना चाहिए मिट्टी है सूख गया पक गया ऐसे दिखता है पट बन गया तो तंतु ही रुई ही तब पट बन गया रुई देखो और पट देखो दिखता है एक प्रकार रोई देख तो कैसे था और पट बन गया कैसे हो गया नाम रूप भिन्न भिन्न हो जाता है किंतु वास्तव उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है इसी प्रकार से ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं ब्रह्म ही सब कुछ नाम रूप दिखता है नाम रूप में सत्य तो बुद्धि होने से उपादान दिखता नहीं नाम रूप का निषेध करो तो सर्वत्र ब्रह्म ही है किंच अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव गर्भिणी गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जागृद्वद्भिर्हविस्मद्भिर्मनुष्यभिरग्निः वै तत् अरण्योर्निहित जात वेदा अरण्य मंथन करके अग्नि प्रकट करते हैं अरण्य काष्ठ में मंथन कण से अग्नि के अग्नि है सर्वत्र घिसने से मंथन करने से प्रकट होती है अरण्य में नीचे एक एक अष्ट ऊपर एक दो मिलकर अरण्य अरण्य हो दोनों अरण्य में जात वेद अग्नि है जात वेद है उस वो अग्नि हिरण्यगर्भ को भी अग्नि शब्द से विराट को भी कहते हैं जन्म होते ही सब जानता है अग्नि है वो अग्नि काष्ट देखते समय अग्नि नहीं दिखती है मंथन करने से उसके प्रकट होती है जो अरहर के दाल खाते उसके लकड़ी इतने मोटा-मोटा लेकर के इतने तेरे काटो और एक पेंसिल जैसे करके मंथन करो जो मंथन करो तो अग्नि प्रकट हो जाएगा घिस कर और अरण्य मंथन के अन्य प्रकार भी है मंथन कर से अग्नि प्रकट हुआ अग्नि उसमें है उधर कैसे है गर्भण गर्भिणी भी गर्भ सुब्रत सुब्रत इव गर्भिणी स्त्री में के अंदर गर्भ है गाय आदि भी गाभिनी होती है बच्चा अंदर है और गर्भिणी भी सुभृत सुष्टुभृत गर्भ होने पर गर्भ में बच्चा है तो माता का बहुत सावधान से रहनी होती है सब सुपथ्य भोजन करना जो कुछ खाना नहीं चलेगा चलते फिरते भी आ रहा है चलना ऐसे नहीं तो कुछ थोड़ा होने पर उसके पर गर्भ में उसके पर पहुंचेगा खाद्य में कुछ अपथ्य भोजन हो तो स्वास्थ्य गर्भ खराब हो जाता है जैसे गर्भिण उसको अपथ सुपथ्य भोजन आदि कर रखते हैं इसी प्रकार यह अग्नि अरण्य में निहित है स्थित है दिवे दिवे ईड्य ईड्य स्तुत्य है सर्वदा ईड्य ईड स्तुत्य अर्थक ईड्य स्तुत्य है रोज रोज उसकी स्तुति होती कर्म करने वाले अग्नि में कर्म करते हैं अग्नि को कहते हैं हुतवह हुतम बहती थी हुतवह जो हवन करते हैं देवताओं को देंगे अग्नि में डाल दो अग्नि पहुंचा देती है सब कहते अग्नि तो खा लेती कहाँ पहुंचाएगी रास अग्नि खा लिया तो पहुंचा देगा अब इंद्र को देंगे वरुण को देंगे आहुति डालते कहाँ अग्नि में अग्नि करके इंद्राय स्वा वरुणाय स्वा कुबेराय स्वा देवता कहेंगे डालेंगे अग्नि में अग्नि प्रज्वलन होकर के सब को क्रास कर लेती है किंतु उसका सूक्ष्म रहता है वो पहुंच जाता है जिसके पास जाना है देवता लोग आकर के ग्रहण करते हैं कि उसके माध्यम से अग्नि मुख है देवताओं का मुख देवता को देने के लिए अग्नि मुख से ग्रहण करते हैं तो उसको कहते होता वह कहते हैं इस स्तुत्य होता दिवे दिवे इड्य इड्य स्तुत्य इड स्तुत्य अर्थ के रोज स्तुति की जाती कर्मी उसकी स्तुति करते कर्म करते हैं और जागृत जागृवद भी जागरणशील अभ्यास करने वाले योगी हविष्मद भी अभी प्रदान करने वाले मनुष्य से अग्नि स्तुत्य है भजनीय है वो जिस प्रकार अरण्य में निहित है अग्नि गर्भिणी में अंध गर्भ है इसी प्रकार सर्वत्र वो सूक्ष्म रूप से विद्यमान है वही हिरण्य गर्भ से विराट रूप से वही ब्रह्म सर्वत्र है या यो अधियज्ञ उत्तराधरण्योर उत्तराधरारण्योर निहित अधियज्ञ यज्ञ में अग्नि प्रकट करके अग्नि में हवन करते उत्तर अधर अरणी ऊपर नीचे दो का अरण्य में स्थित है मंथन करने से प्रकट होती अग्नि जात विद अग्नि पुनः सर्व हविषाम भोक्ता सारा हवि का भोक्ता है वही अग्नि में डालते हैं और देह में उसको अध्यात्म च योगी वीर योगी लोग उसको धारण करते हृदय में हृदय में ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं सर्वात्मक ब्रह्म सर्वत्र है साक्षात्कार जब होता है हृदय में ही साक्षात्कार होता है बुद्धि में भी है बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है अंतकर्ण जो श्रवण मनन करते हैं तो अंतकर्ण में ही ब्रह्माकार वृत्ति मन से वानुद्रष्टव्यम मन से ब्रह्माकार वृत्ति होती वो ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान आवरण नष्ट हो जाने पर स्वयं प्रकाश ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है हृदय में उपलब्धि होती है अध्यात्म योगी लोग उसको धारण करते हैं ध्यान करने के लिए प्रारंभ में बाह्य आलंबन लेकर ध्यान करते एकाग्र मन नहीं होता है संसार में मन बहुत विषय में भागता है बाह्य आलंबन में मन एकाग्र करने के बाद पहले धारणा करते उसके बाद ध्यान करते एक देश में मन लगाने का धारणा देश बंधस चित्त से धारणा किसी देश में बाहर हो पहले से कोई अंदर भी कर सकता है जिसका पूर्व जन्म संस्कार है पूर्व जन्म से बहुत सबका ही अनेक पूर्व जन्म हो गए हैं बहुत संस्कार है जो किसी पुण्य कर्म के कारण किसका संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है तो पहले से अंदर ध्यान कर सकता है नहीं तो बाहर ध्यान करे तो मन लगाने पर धारणा फिर प्रत्येक तांत ध्यान ऐसे एकाग्र होने के लिए पहले बाहर आलम लेते फिर अंदर लेते हैं अंदर भी जो सगुण चिंतन करते वो भी पहले बाहर लेते बाद में अंदर लेते हैं अंदर ध्यान अच्छा होता है हृदय कमल में कमल हृदय जैसे कमल पुष्प है मुख नीचे करके उसको ऐसे कर रखना हृदय रख गया और अब सगुण चिंतन करने वाले चिंतन के उसमें भगवान बैठे सामने से मुख करके चिंतन करे सगुण का भी ध्यान करते हैं जब ब्रह्म चिंतन करते श्रवण मनन करने के बाद ब्रह्म का निश्चय मन से होता है जिस प्रकार सामने घट है पट है घटाकार पटाकार वृत्ति है अंतगण का परिणाम इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति हम अस्मि ब्रह्म इस निश्चय मन से होगा किंतु उसके लिए प्रमाण चाहिए घट को चक्षु से देखने पर अयम घट घटाकार वृत्ति होती है और सामने घट नहीं घटाकार वृत्ति कहें को बोलो अयम घट अयम घट बोलता रहता अयम घट अयम घट क्यों देखता है पुष्प है घट है ही नहीं घटा नहीं है तो उसको कहीं घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति कहेंगे तो घटाकार वृत्ति क्या आरोप करके कहता है निश्चय नहीं है सामने पुष्प है घट निश्चय होगा पुष्प का देखने पर निश्चय नहीं होता है शब्द से कहता है अयम घट अयम घट कहता है आरोप करके कह सकता है आरोप करता है निश्चित उसको ही घट नहीं है इसी प्रकार जब तक तो वेदांत श्रवण पूरा नहीं करे मन नहीं करे ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती अहम अस्मि ब्रह्म सो हम शिव हम रटते रटते जाओ सामने पुष्प है कह अयम हस्ती याती हाथी है हाथी है देखो याती हाथी है बोलेंगे बोल सकते हो याती हाथी है कितने बार बोलने से हाथी हो जाएगा हाथी नहीं ये तो पुष्प है इसी प्रकार अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म सोहम शिवम रटने पर नहीं होगा कोई सिखा दे शुरू से मंत्र बता देते अहम शिवम सोहम रटते जाओ स्वती मंत्र है भगवान का नाम है जैसे विष्णु कृष्ण राम आदि भगवान का नाम है शिव आदि सोहम भी कोई भगवान का नाम होगा सोच कर रटते सोहम का तो वह मैं हूँ ब्रह्म मैं हूँ अर्थ चिंतन अर्थ चिंतन भी कहाँ से हो जाएगा ब्रह्म क्या मैं क्या कुछ पता नहीं मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म जितने रटने पर भी ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है वेदांत प्रमाण से ही वृत्ति होती है जिस प्रकार चक्षु से देखेंगे हाथी सामने है देख लिया तो अयम हस्ति ज्ञान होता है इसी प्रकार प्रमाण से ज्ञान हुआ तुम ब्रह्म हो वेदांत प्रमाण से शब्द प्रमाण से अर्थ ज्ञान होता है होता है आंख बंद कर बैठे कोई शब्द कुछ कहा तो आपको ज्ञान होगा होता है परोक्ष ज्ञान होता है कभी अपरोक्ष ज्ञान भी होता है दशम स्तमसी दशम कहा है मर गया रोते हैं कहते तुम ही दशम हो तो दशम नौ को गिनती कर लिया अपने को छोड़ दिया था मैं दशम ज्ञान हो गया वो दशम स्तों से वाक्य से तो ज्ञान हुआ किंतु ज्ञान अपरोक्ष है परोक्ष नहीं मैं दशम हूँ मैं दशम ऐसा निश्चय करने के लिए अंधकार में हो तो अब निश्चय होगा मैं दशम हूँ नौ को तो जान लिया और दशम कहाँ है नौ का नाम ले लिया देखो सब न है और दशम कहाँ है कहे तुम ही दशम हो फिर टॉर्च चला कर देखना पड़ेगा मैं दसवा हूँ आंख खोल के देखना पड़ेगा ये विषय सन्निहित होने से शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है इसी प्रकार तत्वम से महावाक्य से तुम ब्रह्म हो ये शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है किंतु वो ज्ञान होने के लिए मन एकाग्र होकर के तुम त्वम शब्द का अर्थ तत्शब्द का अर्थ पहले उपस्थित हो मैं परिचय न हूँ ब्रह्म व्यापक एक एक कैसे होगा प्रमाण होने पर भी गुरु पिता माता कहते रज्जु है सर्प नहीं है किंतु जब तक आपको सर्प दिखता है कोई दौड़ कर जाएगा पकड़ लेगा कहेगा सर्प है सर्प है इसी प्रकार प्रमाण होने पर भी ज्ञान नहीं होता है ज्ञान होगा तभी त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का अर्थ ज्ञान हो ज्ञान होने पर पदार्थ के लक्ष्यार्थ ज्ञान होने पर साक्षात्कार होता है इसके लिए मन एकाग्र होना चाहिए तो योगी लोग को ध्यान करते हैं जब ध्यान करने पर साक्षात्कार होता है तो हृदय में ही साक्षात्कार होता है अहम अस्मि ब्रह्म ब्रह्मकार वृत्ति इसलिए कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति हाँ, सर्वत्र है हृदय में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए ध्यान करने वाले भी योगी भी अध्यात्म योगी गर्भैव गर्भ में जैसे गर्भिणी गर्भ गर्भिणी गर्भ को रखते हैं योगी लोग अध्यात्म देह में परमात्मा को धारण करके ध्यान करते हैं गर्भिणी विकार तो अंतर्वत्नी भी अंतर्वत्नी क्या सूत्र है अंतर्वत पतिवत नुक ऐसा क्या सूत्र है अंतर्वत पतिव्रतुर पतिव्रत नुक होकर के अंतर्वत्नी अंतर्वती से अंतर्वत्नी बनता है गर्भिणी धारण करते हैं कैसे के धारण करते हैं अगर्हित तो अन्न पान भोजन आदि ना ये धारण करने का ही अर्थ है गर्हित निंदित जो निषिद्ध अन्न पान नहीं करते हैं जो आयुर्वेद लोक में प्रसिद्ध आयुर्वेद वैद्य बताते हैं ये चीज खाना ये नहीं खाना लोक में जानते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए अगरित तो अन्न पान भोजन के द्वारा उसका गर्भ धारण कर दिए सृष्टु भृत सुभृत सृष्टु सम्यक भृत लोक में धारण करते गर्भ इति इत्थमेव ऋत्वे वीर योग बीच सुभृत इसी प्रकार ऋत्व लोग ये हवन करते स्तुति करते योगी भी गर्भ में उसको धारण करते हैं किंच दिवे दिवे अहनि अहनि इड्य स्तुत्य वंद्यश्च कर्म भी कर्म करने वाले भी रोज इसकी स्तुति करते हैं योगी भी च योगी भी अध्वरे हृदय च कर्म करने वाले अध्वर याग में अध्वर याग और योगी हृदय में भी इसको धारण करते हैं जागृतवद भी जागृवद भी जागरणशीलवद भी जागरणशील क्या है प्रमाद रहित अप्रमत्ते ही प्रमाद से निद्रा जिस प्रकार है ये नहीं उत्तिष्ठत जागृत श्रुति कहती है जागरणशीलवद भी जो प्रमाद रहित है निरंतर अप्रमत है वही जानते हैं धारण करते हैं प्रमाद होने पर साधारण कोई शब्द अर्थ ज्ञान नहीं होगा आधा निधि लगता है घट नित्य है या पृथ्वी या जल जल है कोई पूछा घटा जल है या अग्नि है सोया हुआ तो तुरंत कहता है नहीं अग्नि है <laughs> अग्नि है नहीं नहीं जल है <laughs> सोया हुआ घट मिट्टी है पृथ्वी कहना चाहिए ये साधारण चीज का भी अर्थ का ज्ञान नहीं होता है परब्रह्म ज्ञान होने के लिए अप्रमत्त होना चाहिए तत्पर होना चाहिए जागरण शिलबद भी अप्रमतेय इति तत हविष्मद भी हवि है आज्य घृत आदि आज्यादि मद भी ध्यान भावना बद्भिश्च ध्यान चिंतन करने पर मनुष्य उसको दान करते मनुष्य अग्नि एतद वे तत् ये ध्यान आदि चिंतन करके यही अग्नि रूप है पर ब्रह्म है स्वयं विराट रूप से अग्नि शब्द से भी कहे जाते हैं तदेव प्रकृतम ब्रह्म वही ब्रह्म है जो हृदय में धारण करते हैं ध्यान करने वाले कर्म करने वाले योगी लोग प्रमाद रहित तो होकर के जिसका चिंतन करते हैं वही ब्रह्म है ब्रह्म नाना रूप से ही ब्रह्म का चिंतन होता है ब्रह्म सर्वात्मक है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं जो हृदय में ध्यान करते वही ब्रह्म है अलग कोई ब्रह्म नहीं दूसरे कहीं देश में दूसरे लोक में ऐसे मन में संस्कार होता है ब्रह्म यहाँ तो नहीं कोई ऊपर बड़े लोक वहाँ ब्रह्म लोक है ब्रह्म का लोक अलग है वो ब्रह्म अलग है कि जो ब्रह्म सर्वात्मक सर्वव्यापक है ब्रह्मा अलग है ब्रह्म लोक में जो ब्रह्मा है किंतु ये सर्वात्मक ब्रह्म जैसे सुवर्ण से बना गया भूषण सब सोना है जब भूषण आपके सामने सोना वहां से कितने दूर में है ऊपर ऊपर या नीचे है वही सामने जो वस्तु ही सोना है इसी प्रकार ये सामने जो वस्तु है अंदर बाहर सब कुछ ब्रह्म ही है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है इसका ही उपदेश यमराज करते नचिकेता को जो तुमने पूछा था वो सर्वात्मक ब्रह्म है यही समझना है ब्रह्म कोई अलग कहीं ऊपर है ऊपर भी है नीचे भी है सर्वत्र है यहाँ भी है तुम्हारे हृदय में तुम ही ब्रह्म हो ये उपदेश करते सर्वात्मक है किंच यतचोदेति सूर्योस्तं यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पिता तदुनात्यदि कश्चन एतद्वै तत् सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति जहाँ सूर्य उदय होते हैं जहाँ से जिसमें अस्त को प्राप्त करते हैं ये वही प्राण से वायु से उत्पन्न होते हैं हिरण्यगर गर्भ रूप समष्टि प्राण से सूर्य उदय होते फिर अस्त हो जाते हैं तम देवा सर्वे अर्पिता उसी हिरण्य गर्भ में सारे देवता अर्पित है रथ चक्र में नाभि में अर अर्पित तो होते हैं अर है अर्पित तो होते नाभि में और एक चार तरफ रहता है नेमी बीच में अक्षय दोनों को जोड़ने वाले होते हैं क्या होते हैं और यह सब अर्पित है नाभि में इसी प्रकार सारे देवता उसमें अर्पित है क्योंकि समष्टि देवता आत्मा का हिरण्यगर्भ सर्वे तन देवा अर्पित सर्वे अर्पित तदुनात्यति कश्चन कश्चन उसको अतिक्रमण नहीं करता है तदात्मकत्व को छोड़कर उसे भिन्न कोई नहीं होता है तदा उससे भिन्न कुछ नहीं अन्य कोई भी उससे भिन्न नहीं है ज्ञानी हो अज्ञानी हो कर्मी हो नहीं कर्म करे नहीं करे पुण्य करे पाप करे उसी से भिन्न कुछ नहीं है सर्वात्मक ब्रह्म ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं जो हिरण्य गर्भ से अतिरिक्त कोई नहीं तदात्मक है सब ब्रह्मात्मक है यतश्च यस्मात् का था प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्य प्राणी समष्टि प्राणी हिरण्य गर्भ अस्तम यत्र च गच्छति अस्त निर्मलोचनम यत्र यस्मिन् एव च प्राणे वही प्राण में लीन हो जाते अहन अहनि गच्छति प्रतिदिन उसी प्राण में उदयस्त तम प्राणम आत्मानम देवा वही प्राण रूप जो आत्मा हिरण्यगर्भ देवा कौन है अग्नि आदेह अधिदैवम समष्टि अग्नि आदि को देवता कहते हैं अध्यय में देवता कहाँ है वागादेश अध्यात्म ये भी सब देवता चक्षुरादि इंद्रिय में सब देवता अधिष्ठाति देवता है इसलिए ये भी देवता वागादेश अध्यात्म जिस प्रकार सारे सूर्य देवता वो समष्टि प्राण में आश्रित लीन हो जाते हैं इसी प्रकार बाघ आदि भी समष्टि प्राण में सुश्रुति अवस्था में लीन हो जाती है सर्वे अर्पिता सर्वे का तो विश्व विश्व का तो क्या है पृथ्वी विश्व का तो सर्व सर्वे का तो विश्व विश्व सर्वे देवा अराइव रथनाभ अर्पिता जैसे रथनाभि में अरा है इसी प्रकार इसमें सब अर्पित है अर्पित संप्रवेशित स्थिति काल में उसमें आश्रित है स्थिति काल में सोपि ब्रह्मैव वही जो प्राण है वो ब्रह्म ही है तदेत सर्वात्मक ब्रह्म ब्रह्म सर्वात्मक है सर्व आत्मा यस्य उसका स्वरूप सर्व ही उसका स्वरूप है सर्वात्मक ब्रह्म उसे भिन्न नहीं है कुछ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है तदुनात्यति कश्चन कश्चन कोई भी तदुनात्यति उ का अर्थ एवं नात्येव कोई भी अतिक्रमण नहीं करता है न अत्येव नहीं नैव अत्यति कोई इसको अतिक्रमण नहीं करता न अतित्य तदात्मकताम तदन्यत्वम गच्छति कश्चन कश्चिदपि उसको अतिक्रम करके तदात्मकता को अतिक्रम कर लेगा अर्थात तस्से भिन्न कोई हो जाएगा कोई उससे भिन्न नहीं है कश्चन कश्चिदपि अपि देन से अज्ञानी भी ज्ञानी अज्ञानी नहीं मानने वाले भी उससे भिन्न है ही नहीं माने नहीं माने अज्ञानी भी उससे भिन्न नहीं है सुश्रुति में तो सब जागृत स्वप्न प्रपंच उसमें लीन हो जाते हैं प्रधान सुश्रुति अवस्था में सब जागृत स्वप्न प्रपंच प्राण में लीन एक होगी इसलिए उसमें सब स्थित है एतद वितत यही ब्रह्म है सर्वात्मक ब्रह्म तत् जो तुमने पूछा था सर्वात्मक ब्रह्म काल तेरे परिचय नहीं है धर्म धर्म से विलक्षण जिस आत्मा के विषय में संशय है देवता लोग को भी संशय है वही आत्मा सर्वात्मक है नित्य है वही पारमार्थिक है उससे भिन्न सब मिथ्या है उसे आत्मा को जानना चाहते हैं वास्तव वही सत्य है जो मिथ्या है वो मिथ्या वस्तु में सत्य तो बुद्धि नहीं है तो सत्य तो बुद्धि उसको देखते हैं ढूंढते कहाँ सत्य है सब भूषण कटक कुंडल मुकुट रसु भूषण ढूंढते हमारे सोना कहाँ है मिट्टी बहुत तो थी घट सरावादी बन गया मिट्टी कहाँ रखा है कुलाल से पूछते हैं मिट्टी कहाँ था सुबह थी तो इतनी मिट्टी कहाँ गई बोलिए तो घट सरावादी है ठीक है मिट्टी कहाँ है वो कहाँ दिखाएगा वही देखा गया यही मिट्टी है यही जो दिखता है यही ब्रह्म है नाम रूप पहले नहीं था मिट्टी की अवस्था में इसी प्रकार ब्रह्म उत्पत्ति के पहले नाम रूप नहीं था नाम रूप की अभिव्यक्ति हो गई इसको उत्पत्ति शब्द से कहते हैं जगत नाम रूप पहले अनभिव्यक्त था अभी अभिव्यक्त हो गया प्रादुर्भाव कहते जन्य प्रादुर्भावे धातु जन्म का तो प्रकट हो जाना प्रादुर्भाव पहले नहीं था उत्पन्न हो गया ऐसा नहीं है पहले नहीं था असत था असत्य की उत्पत्ति नहीं होती है प्रकट हो जाना पहले था अप्रकट था अभी प्रकट हो जाता है अप्रकट था प्रकट हो गया और नाश हो गया तो नाश अदर्शन नहीं दर्शन होता था अभी दर्शन नहीं हुआ तो नाश हो गया कहीं अत्यंत अभाव नहीं होता है तुच्छ नहीं होता है निरन्वय विनाश बौद्ध लोग कहते हैं नष्ट हो गया मतलब कुछ भी नहीं रहा ऐसा नहीं रहता है जिस नाम रूप आत्मकथा वो नहीं है किंतु आविर्भाव तिरोभाव होता है जगत की उत्पत्ति प्रलय ऐसा ही है नाम रूप अनभिव्यक्त होकर के था अभिव्यक्ति हो गई फिर प्रलय काल में नाम रूप समाप्त हो गया सद ब्रह्म रूप से रहा वही ब्रह्म है उत्पत्ति काल में सृष्टि काल में भी जितने सब पदार्थ ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं है कल्पित नाम रूप अलग उसमें सत्य तो बुद्धि होने से जो पारमार्थिक सत्य वो नहीं दिखता है कल्पित वस्तु में सत्य तो बुद्धि होकर के अपने स्वरूप ब्रह्म होता हुआ ढूंढता है ब्रह्म कहाँ है कौन है वही तत्व है सर्वात्मक ब्रह्म है जिस प्रकार अंदर बाहर एक ही आकाश तत्व है इसी प्रकार एक ही दृग रूप चेतना उससे भिन्न कुछ नहीं सपना प्रपंच में आपसे भिन्न कोई नहीं है इसी प्रकार अभी भी नान्योत्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता इसी आत्म तत्व से अन्य कोई दृष्टा श्रोता मनता है ही नहीं जितने दृष्टा श्रोता मनता रूप से दिखते वही ब्रह्म ही है हां ब्रह्म नाना रूप से दिखते भ्रांति के कारण एक ही तत्व है प्रतिबिंब अलग दिखता है नाना रूप से दिखते स्वप्न में जिस प्रकार नाना रूप का दर्शन होता है नाना रूप नहीं होते हुए भी उसे एक तत्व का ये ज्ञान से ही आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की अभिव्यक्ति मोक्ष होता है ओम सहना भवतु